लक्षिता लक्षिताश्च ताम ताम अवस्थान अन्य अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते अवस्थान्तरतो न द्रव्यांतर इसलिए उन उन अवस्थाओं को जिनको प्राप्त हो रहे हैं वहाँ अन्य उसका प्रतिनिर्देश हो जाएगा वर्तमान है ऐसा बोल दिया जाएगा तीनों है ये नहीं बोलेंगे वर्तमान है कह देंगे अवस्थान्तरत ही निर्देश हो ना ये न द्रव्यांतर द्रव्य भेद को लेकर के वस्तु भेद को लेकर के व्यवहार नहीं होता दृष्टान बड़ा सुंदर देते हैं यथा हा रेखा शतस्थाने शतम दश स्थाने दश एकम च एक स्थान रेखा तो वही है अब दो शून्य आगे पड़ गया उसका नाम हम कहते हैं सौ सौ का बोधक हो गया वह रेखा अब एक शून्य हटा दिया और दस का बोधक हो गया रेखा और उस शून्य को भी हटा दो तो वही रेखा एक का बोधक तो रेखा तो वही है लेकिन वह अन्य अन्य काल और चीजों का बोधक हुआ अन्य अन्य अवस्थाओं जितना शून्य आगे जुड़ते गए वैसे उसकी संख्या बढ़ती गई और जितनी से शून्यों को पीछे भी जोड़ते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ता है क्या पीछे शून्य जोड़ते जाइए जीरो जीरो वन लिख दो कोई व्याख्या नहीं उसकी हो तभी क्या कहेंगे एक ये कहीं तो बोलेंगे हाँ एक बिंदी रख दिया तो अर्थ बदल जाएगा दशमल शून्य शून्य एक कर दो फिर तो उसकी तो महिमा ही बदल जाएगी वो बिंदु है ना वो बिंदु सब खेल खेलता है ये खतरनाक चीज बिंदु भी तो बस इसी आधार पर सब कुछ रेखा तो वही है चाहे आगे शून्य है चाहे पीछे शून्य है बिंदु है या नहीं है सारा खेल उस रेखा का आधार क्या है वो सारी चीजों को लेकर व्यवहार होता है रेखा तो वही है ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ता तद्वत यहां भी समझो इसे कहते हैं यथा एका रेखा शतस्य शतस्थाने शतम स्थान है दश एक स्थाने एक यदा एकत्व स्त्री इसे एक और स्थान स्त्री तो वही एक ही है किसी का इससे माता है किसका इससे तो वो बहन है इसका जो माँ है इसका कुछ है माता च दे दुहिता च स्वसा कोई कहते बहन है, है? अलग अलग नाम बोलते है जी स्त्री वही लेकिन संज्ञा अलग अलग है व्यवहार अलग अलग होता है तो अच्छा अवस्था परिणाम कौटस्थ प्रसंग दोष कश्चित पूर्व में कहा था अवस्था परिणाम काल में यदि पूर्वोत्तर संबंधी बना रहेगा तो कुटस्थता दोष होगा सब कुटस्थ हो जाएंगे नित्य हो जाएंगे उसी की व्याख्या पहले पूर्व पक्ष व्याख्या करते कथम तो कैसे कुटस्थ हो जाएगा क्योंकि अद्वनो व्यापारे न व्यवहित यदा धर्म व्यापार न करो तदा अनागत क्योंकि काल के व्यापार के द्वारा विवहित होकर जब धर्म स्व व्यापार कुछ भी नहीं कर रहा हो तब उसका नाम क्या हो जाएगा अनागत आप अनागत उसको कहेंगे ना जिसका भी आपके अपने इंद्रियों के क्रिया का विषय ना हो इंद्रिय व्यापार से असंबद्ध हो जो वस्तु भविष्य में होने की संभावना हो जो उनको आप कहेंगे अनागत उसे कह रहे हैं अध्वनो व्यापार है व्यवहित काल का जो व्यापार है वर्तमान जो व्यवहार होता है इसके साथ तो व्यवहित है अर्थात तो वर्तमान में नहीं है और उस धर्म का भी अपना व्यापार नहीं हो रहा उत्पन्न हो गया या नष्ट हो गया या इस रूप वाला है उस रंग वाला कुछ भी बोल सकते हैं जो घड़ा अभी आपने बनाया नहीं है उस घड़े के बारे में अब क्या वर्णन कर जो बच्चा पैदा नहीं है वो गोरा है कि सांवला है कैसे बोलो लड़का है कि लड़की है कैसे पूर्व में से उसका कोई व्यवहार नहीं हो सकता लोग यहाँ कहते हैं धर्मश्च स्वय व्यापार न करो यदा तदा उस उसको क्या हम कहेंगे अनागत तब अनागत और यदा करोती और जब वो काल के व्यापार अधीन हो जाता वर्तमान काल के व्यापार अधीन हो गया और वह वस्तु का अपना व्यापार भी होने लगा इंद्रियों के साथ संबंध भी हो गया तब तो हम क्या कहेंगे उसको वर्तमान यदा करोती हाँ, सतदा वर्तमान और यदा कृत्वा निवृत्त व्यापारों के निपट गया मामला तब तदातीत इतम धर्म धर्मी और नाम अवस्थान कोटस्थ्यम प्राप्त इस प्रकार से धर्म और धर्मियों का लक्षण को लेकर के और अवस्थाओं को लेकर परस्पर संबंधता होने के कारण में कारण से कुटस्थता तो अवश्य आएगा यदि परेर दोष उच्चते इस दो पूर्व पक्षियों के द्वारा दोष कथन हुआ नित्यता का दोष कथे नासो दोष इन वास्तव में दोष यहाँ नहीं आ सकता क्यों कस्मात गुणी नित्य गुणाराम विमर्द वित्र हमारे यहाँ गुणी नित्य गुण नित्य नहीं वो तो वास्तव में गुण भी सत्र स्तंभ रूप जो गुण है वो तो नित्य रहेगा वही गुणी शब्द से कहा जाता है प्रकृति कोई अलग गुणी नहीं है सत्र स्तंभ की साम व्यवस्था का नाम ही प्रकृति है इसे गुण ही वास्तव में गुणी कहे जाएंगे लेकिन वह नित्य होने के बावजूद भी गुणों का जो आविर्भाव दुर्भाव है अभिभाव्यता और अभिभावकता जो चीज है वो क्या है वो नित्य उसी को लेकर अतीत अनागत होकर वर्तमान व्यवस्था है इसे कहते हैं कि गुणी नित्य गुणानाम विमर्द विमर्द का मतलब आविर्भाव तिरभाव अभिभाव हो जाना और अभिभाव का भाव को प्राप्त हो जाना इस प्रकार का जो व्यवस्था है उसकी वैचित्रता होने के कारण कोई दोष नित्यता का दोष नहीं आएगा जैसे सोना नित्य बना रहे कोई आपत्ति नहीं है किंतु उसमें रहने वाला कुंडल नित्य नहीं होता है ना ये कुंडल का आविर्भाव भाव नित्य सोना भले नित्य है सोना सदा बना रहेगा लेकिन कुंडल तो अभी बना है कब आपका मन में आएगा कब उसको गला देंगे कब मिटा देंगे कोई भरोसा है, है? वो तो आविर्भाव हो रखा है उसका तिरुभाव जरूर होगा अतः कारण के हमेशा नित्यता बनी रहे कार्य की नित्यता मानने में कोई आपत्ति नहीं है अतः धर्म भी नित्य होगा मैंने कार्य भी नित्य होगा ऐसा ना समझ धर्मी मात्र नित्य है कारण मात्र नित्य है और जब कार्य वह सदा अनित्य ही होता है यदा संस्थानम आदिमत धर्म मात्र शब्दादि नाम विनाशी अविनाशी नाम जैसे पूर्व में आपने देखा था है ना मूल प्रकृति उसकी जो विकृति ऐसी है जो प्रकृति विकृति है और उस प्रकृति विकृति भैरूपा का जो कार्य थे वो केवल विकृति रूपा है और एक दूसरे पर विनाश और अन्य अविनाश शब्द प्रयोग किया था जो सोलह विकार है उनके सुबह जो सात क्या है अविकारी अविनाशी है और सात भी विनाशी है किसी दृष्टि से प्रकृति की दृष्टि से और एकमात्र अविनाशी इसलिए मूल प्रकृति विकृति ही है ये आपने कहा था तद्वत यहाँ पर भी कहते हैं यथा संस्थानम आदिमत संस्थानम जितने घटपट आदि व्यवहार है ये सब आदिबद्ध होने के नाते अनित्य आते हुए धर्मात्र शब्दादिना धर्मात्र कौन है शब्दादि का जितने भी कार्य मात्र स्वरूप है शब्दादि नाम धर्मात्र मैंने कार्य रूपम विनाशी क्या होता है विनाशी लेकिन शब्द मात्रा अविनाशी रस मात्रा अविनाशी किसके दृष्टि से कार्यभूत शब्द ये जो मुंह से निकल रहा है आप सुन रहे हैं ये जो कार्यभूता शब्द है वो विनाशी है इसका जो कारण होता शब्द तन मात्रा जो शुद्ध है वो तो अविनाशी होता है लेकिन वह भी विनाशी है इसके दृष्टि से उसके भी कारण अहंकार के अहंकार से पैदा हुआ सब तामस अहंकार से इसे तामस अहंकार नित्य हो जाएगा विनाशी होगा ये सब शब्द तन मात्रा रस तन मात्रा इंद्रिया सब विनाशी होगा अब जब बाह्य शब्द आदि दृष्टिकोण से हम कहते हैं इंद्रिया नित्य है सुख शरीर नित्य है गमनागमन करता है है ना उसलिए कहते हैं शब्दादियों का जो धर्म मात्र है आदि मध्य है संस्थान विशेष है वो विनाशी है किनका अविनाशी नाम महाभूता नाम भूत सूक्ष्माणाम अपंचीकृत पंच महाभूता नाम वेदांत भाषा वो तो नित्य होंगे वो तो अविनाशी है एवं लिंगम आदिमत लेकिन इसी प्रकार से समझो वो जो लिंग है कार्यकाल भाव चलो महत्व सीधा बीच का नहीं बोला बीच को समझ लो अपने आप और सीधे चले गए लिंगम लिंगम मैंने महत्व वो भी कैसा है आत्म वो भी धर्मात्र है किसके दृष्टि से नाम गुणाराम सत्वादी जो गुण होते हैं मूल प्रकृति जो प्रधान शब्द कहा जाता है उसका ये लिंग क्या है आदिम धर्मात्र होने से विनाशी है इनके अविनाशी नाम सत्तादि नाम गुणा नाम अविनाश सत्ताधिक गुणों का यह जो महत्व है लिंग तत्व है अव्यवस्था तो अलिंग है उसको अव्यक्त कहेंगे व्यक्त कहेंगे इसको तस्मिन विकार संज्ञा बस उन्हीं में विकार संज्ञा हम देखते हैं उत्तरोत्तर कार्य पूर्व कार्य दृष्टिया विकार संज्ञा को प्राप्त होता है अतएव एकमात्र वास्तविक अभिकारी कौन है प्रधान जो सत्रस्तम जो अपने साम्य अवस्था वाले गुणत्रय हैं वे ही अभिकारी वास्तव में बहुत के सभिकारी विकार संज्ञा सब लोग देगा वो भी नहीं है नहीं होता हुआ वो अविनाशी यही इनकी विशेष सत्कार की विशेषता है परिणामी होता हुआ वो अविनाशी होना ये अन्य मतों को गले उतरता नहीं है कोई परिणामी भी हो और अविनाशी हो ऐसे संसार में तो कोई दृष्टांत क्योंकि जितने भी आप कार्य को देखते संसार में परिणाम होगा वो निश्चित रूप में विनाश हाँ अब वो कह रहे हैं कि बरसती उनकी अपनी मान्यता है नहीं तो व्यवस्था कैसे होगा फिर बात होगी ना माया कहाँ से आई इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे अरे वो नहीं दे पाए आप तो दे ही लोगे वेदांत पढ़े हो लेकिन वो नहीं दे पाएंगे ना अभी तो कहाँ से आई है? माया कहाँ से आई इस प्रश्न का जवाब उनके दिमाग में आया नहीं तो उन्होंने क्या कह दिया इसलिए ये मूल प्रकृति को नित्य कह दिया जैसा हमारे यहाँ भी क्या होता है कहाँ से आई ये मालूम नहीं है कब आई ये मालूम नहीं है तो हम लोगों के यहाँ एक जवाब दिया जाता है व्यवस्था देते वक्त यह अनादि है जैसे मांडव के कार्यकार कहते हैं जिसकी बुद्धि फेल हो जाए जवाब दे ना पावे वो क्या कहेगा अनादि और हम कहते हैं खत्म नादि वो नानादि है ही नहीं अजातवाद खड़ा कर फायदा ही नहीं हुआ जगत कहा है जो है ही नहीं उसे कारण ढूंढ रहे हो और कारण कहाँ से कब आई कैसे हुई ये सब क्यों पूछ रहे हो ये हो न जगत तब तो विचार किया जिसके कारण को जगत ही पैदा नहीं हुआ वो हाँ, तो अजातवाद में ले जाते हैं ताकि अनादि कहना भी बुद्धि का दिवालापन है जिसकी बुद्धि दिवाला हो जाए है? उसे सारे शक्ति छीन हो गया जवाब ढूंढते ढूंढते ढूंढते गोल चक्कर फंसा पड़ा है निकल नहीं पाया जवाब नहीं आई तो क्या कर देगा संसार ना दिया विद्या ना दिया माया अनादि ढूंढे और असली वेदांत मिश्र ना विद्या है ना माया है ना जगत है कोई पैदा ही नहीं हुआ जो कुछ वो आप ही है और आप ही बेवकूफ बन करके सब देख रहे हो और कह रहे हो जगत भी है ईश्वर भी है ये है वो है दुनिया भर सब लफड़ा कमा पाल रखे हुए मतलब के है ना अब उस अजातवाद में चले जाओ तो ये भी जवाब नहीं होते और अजात में नहीं भी सजातवाद में रहोगे तब भी आप क्या कहोगे माया अनादि अनादि माया हो गया इसलिए उसको जो हम नित्य मानेंगे नहीं क्योंकि तो अनादि होना नित्यत्व के हेतु नहीं है है ना अनादि होना नित्यत्व परिणामी होने के नाते नित्यत्व नहीं हो सकता और अनादि परिणामी हो सकता है अनादि काल से परिणाम चल रहा चलती रहेगी लेकिन वो विनाशी है इसलिए माया क्या है विनाशी है विद्या क्या है विनाशी है मूल प्रकृति हमारे मत सत्वर वेदात मत में विनाशी हो जाता है लेकिन इन लोगों ने वो अजातवाद इनके तो बस की बात नहीं डर गई ये सब समझ में नहीं आता ना सभी की अक्ल की बात थोड़ी है अभी ब्रह्म सूत्र पट कश्चित आविर्भाव से कश्चित व्यक्तिमान तत्व भगवान कहते कश्चित धीर आवृत चक्षु अमृतम में छन का दिया सर्वत्र कश्चित कश्चित कश्चित ही वह होता है कहीं कौचित भी नहीं है केचित तो दूर की बात है दो भी नहीं मिलेगा ब्रह्म ज्ञानी संसार में अनेक कहां से मिलेंगे क्यों कहते दो ब्रह्म है ही नहीं तो समस्या तो ये है ना यही दो ब्रह्म होता तो दो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हाँ एक ही ब्रह्म है जो उसको जाना वही हो गया और वही हो गया तो सब कुछ वही हो गया ना अब एक ही तो होगा कि तू कहां से आएगा तो युक्ति से है यहाँ इसलिए उपाधि दृष्टि अनेक ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं है ना जिस उपाधि में ब्रह्मानुभूति हुई उस उपाधि को तो ब्रह्म ज्ञानी कहोगे है कि ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञानी कहोगे क्या ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी होता है क्या ब्रह्म तो ब्रह्म है हो क्या ब्रह्म ज्ञानी होगा वो कभी अब्रह्म ज्ञानी था नहीं ब्रह्म ज्ञानी होगा नहीं वो तो ब्रह्म है इसे जो ब्रह्म ज्ञानी कौन हुआ है? <laughs> <laughs> कोई नहीं हुआ बस जिस उपाधि में ये तो विशेष प्रकाशानुभूति हो गई उस उपाधि को आप बोलते ये ब्रह्मज्ञानी महाराज है श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है तो उपाधि की ही खेल है सारा इसलिए जिस उपाधि में विशिष्ट प्रकाश पैदा हो जाता है अनुभूति हो जाती है ब्रह्मज्ञत्व का उस उपाधि को ही लेकर के आप व्यवहार कर देते अमुक ब्रह्मज्ञानी ये अज्ञानी है नहीं तो अज्ञानिक और ज्ञानित्व व्यवहार स्वपारिक होता है स्वरूप नहीं हो सकता अभी सरासी तक पकड़ लोगे ना फिर वेदांत में समस्या कहां से आएगी फिर आप कभी नहीं बोलोगे मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ अपने आप को बोलोगे आप है? जो बोलेगा वो महामूर्ख हाँ? यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद इसलिए कभी ये नहीं बोलना अपने आप पोड़ने टांगना आम ब्रह्म ज्ञानी श्रोत्र निष्ठ ये सब मूढ़ों के मामला है सांसारिक व्यवस्था है उसमें पढ़ना नहीं इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तस्मिन विकार संज्ञा इसलिए सभी में विकार संज्ञा प्रयोग होता है जो कुछ माया और माया का कार्य है अविद्या और अविद्या का कार्य है या प्रधान और प्रधान का कार्य है सब विकास है बस इतना ही योग और वेदांत फर्क है ये प्रधान को विकार नहीं मानते उसको नित्य मानते परिणाम होते हुए वो अविनाशी है नित्य है इतना ही मान रहे हैं बस यही फर्क है इसे हम लोग कहते सीढ़िया पहले इसको समझोगे तो वो अंत में समझ में आएगी क्यों लेकिन इसके लिए अलग अलग सिद्धांत जो दर्शन आया है आपकी बुद्धि के विकास के लिए आपने देखा होगा कहीं लकड़ी का काम होता है क्या लोहे का काम होता है कोई काम होता है तो क्या होता है सीधे मही मशीनों से काम होता है क्या नहीं पहले वो मोटा मोटा रंधा मार खड़खड़ खड़ खड़ मार देता है मोटा मोटा निकाल देता है फिर वो बहुत बहुत बढ़िया से लेता है उससे करता है फिर पॉलिशिंग होती है पॉलिशिंग एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं कई बार मारना पड़ता है तब असली चमक आती है या नहीं उसी प्रकार यहाँ पर पहले चार वाक दर्शन है मोटा रंधा है ये भाग दर्शन मोटा मोटी रंधा जैसा है काम करता है और जितने नास्तिक दर्शन सब रंधे की कोटी में डाल देना विभिन्न प्रकार के है ना और जितने भी आस्तिक दर्शन है ये सब पॉलिशिंग का विभिन्न कोट है कोटिंग होती कोटिंग बोलते हैं अलग अलग कोटिंग चल रहा है और फाइनल कोटिंग जो होता है वही वेदांत तो इस तरह विभिन्न स्तर मानने पर कहीं कोई विवाद नहीं है कोई विरोध नहीं है इसलिए वो गलत नहीं है वो आपके को समझाने के लिए एक स्तर बना दिया गया है तब तो इधम उदाहरण बहुत इस विषय में उदाहरण देकर समझा रहे देखो अनागत दागत इत्यादि को लेकर के कैसा होता है मृत धर्मी पिंडाकार धर्म धर्मांतर उपसंपत्ति मानो धर्म तक परिणाम घटाकार मृतिका रूपी धर्मी है मृतिका क्या है धर्मी ले लो और उससे क्या हुआ पिंडाकारा धर्मांत उसको पहले पिंडाकार धर्म प्रदान कर दिया आपने और पिंडाकार एक उस मृत्युका रूपी धर्म में पिंडाकर एक धर्म हो गया उस पिंडाकार धर्म से आप क्या बना रहे घटाकार का दूसरा धर्म बनाने जा रहे पिंडाकारा धर्मा धर्मांतर उपसंपत्ति मारो धर्मांतर को संपादन करते हुए धर्मध परिणमते घटाकार इसको क्या कहते हैं धर्म परिणाम जो पिंडाकार से घटाकार हो गया कुंडलाकार से जो है मालाकार हो गया कुछ भी अन्याकार हो जाए है कि नहीं पटाकार से पेंटाकार हो गया <laughs> तो कोई भी स्तर का ले लो वो सब क्या है इनको क्या कहते हैं धर्म परिणाम होना घटाकारो अनागतम लक्षण हित्वा जो पहले जो बता गए थे सामान्य नियम उसको घटा रहे हैं जो घटाकार रूपा धर्म क्या था अनागत भाव में था क्योंकि जब पिंड में है तब घट नहीं है ना तब तब घट क्या स्थिति में है अनागत रूप में है आने वाला बनाओगे बना नहीं है जब तब तब घटाकार अनागत लक्षण वाला रहेगा उस अनागत लक्षण को त्याग करके वर्तमान लक्षण प्रतिपदित है यह घट में क्या हो गया लक्षण परिणाम हो गया पिंड का घट होना यह धर्म परिणाम है घट के अनागत अवस्था जो लक्षण से जो वर्तमान लक्षण को प्राप्त होना ये लक्षण परिणाम यदि लक्षण था परिणाम और घट उस घट में अवसा परिणाम भी घटाओ कैसे नव पुराण दाम घटो प्रतिक्षण अनुभवन अवस्था परिणाम प्रतिबद्ध है नया घड़ा है ये तो कल बना हुआ घड़ा है एक साल पुराना घड़ा है हमने एक विचित्र वैद्य को देखा था दक्षिण भारत में उस वैद्य के पास कुछ नहीं तो लगभग साठ अलग अलग बोतलों में गुड़ था और सब में क्या है सन का नंबर लगा ये 1965 का 1966 का 1967 का गुड़ पुराना गुड़ साठ साल पुराने तक के गुड़ थे उसके बाप के जमाने मैंने भी क्या करेगा इसका रक्षा करके उसको कीड़े नहीं पड़ने देता बड़ा हिसाब किताब संभाल कर रखा है और कहता है हमारा सारी बीमारियों का इलाज हम किन गुड़ों से कर सकता है कैसे होगा कहते हैं हाँ, इसलिए तो विशेषता है गुड़ का कौन जानता है कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को है वो मानेगा है नहीं वैज्ञानिक जितना गुड़ पुराना हो और उसको बिना कीड़ा आदि का करके सुरक्षित करके रखें वो महान दवाई हो जाएगा बड़े बड़े रोगों का भी ये कोई वैज्ञानिक नहीं मानेगा और वो कहता है इससे सब काम करते हैं मैंने फिर केवल गुड़ से तो नहीं होता होगा कुछ और जोड़ते होंगे कहते कुछ नहीं और हमारे पिताजी ने एक मंत्र बता दिया था मंत्र फूंक देता हूँ जब देता हूँ तो मंत्र बोलता हूँ दे देता हूँ काम हो गया एक ही बीमारी का इलाज नहीं कर पाता है बाकी सब बीमारी इलाज करता है वो डायबिटीज का इलाज नहीं करता <laughs> कारण क्या कहते चीनी है तो ये भी गुड़ चीनी है ये तो बढ़ाएगा घटाएगा नहीं होता ये गड़बड़ करेगा पर विचित्र होने का कमाल है यार है? क्या विलक्षणता उसकी है कोई भी बीमारी जाए बस अच्छा कब से हुआ कैसे हुआ सब पूछेगा और नाड़ी पकड़ के देख लेगा बचपन से सुख क्या क्या लगभग हो रखा है उस हिसाब से कहा तुम इतने साल पुराना गुड़ खिलाऊंगा तुम्हारा सब बीमारी ठीक हो जाएगा वो निकाले अमुक सन का गुड़ निकालो भाई निकाला उसको पुड़िया बांध दिया और मंत्र बोला और दे दिया जाओ कुछ ज्यादा नहीं देता थोड़ा सा हो जाए इसको लो पानी में घोलो घोल के रखना रोजाना एक चम्मच पीते जाना बस बताओ क्या विचित्र माया अवस्था परिणाम ये नया है और पुराना है और पुराना और पुराना पुराना ही पुराना है नवा पुराना पुराणतांच प्रतिक्षण अनुभवन अनुभव करता हुआ वही घट अवस्था परिणाम प्रतिपद्यते धर्मिणोपि धर्मांतरम अवस्था इसी प्रकार से धर्मी के अंदर जो अवस्था है वो भी धर्मांतरता को प्राप्त करना ही धर्मी की अवस्था भेदे समझना और धर्मी में शोधा को अवस्था भेद नहीं होगा धर्मी एक धर्म से दूसरे धर्मांतर को जब प्राप्त हो जाता है वही उस धर्मी की अवस्था विशेष है कुंडलावस्था का स्वर्ण मालावस्था को प्राप्त कर गया अन्य आभूषण अवस्थाओं को प्राप्त करते जाता है स्वर्ण यही धर्मी की अवस्था है धर्म से लक्षणांतरम अवस्था इस धर्म का भी क्या हो गया लक्षणांतर एक अवस्था हो अतः धर्म का और कोई अन्य अवस्था तो है नहीं घट तो घट है उसमें अति अनागतता वर्तमान हो गया वर्तमान से अतीत हो रहा है नया आता पुराना हो गया ये सब क्या है लक्षण परिणाम या अवस्था परिणाम वो धर्म से भिन्न नहीं है और धर्मी का परिणाम धर्म परिणाम से भिन्न नहीं है अतः धर्म ही नित्य हो गया अवस्था एक द्रव्य भेदे भेदेन उपदर्शित इसलिए एकमेव यहाँ द्रव्य का परिणाम हो रहा है उसको भेद पूर्वक आपको दर्शा गया एवं पदार्थ पदार्थांतरेशपी योजम जैसा घट में समझाया उसी प्रकार से आपको अन्य पदार्थों में समझनी चाहिए एक धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्म स्वरूप अनतिक्रांता एक परिणाम सर्वान अमून विशेषान अभिप्लवते इसे निष्कर्ष निकला धर्म परिणाम हो लक्षण परिणाम हो या अवस्था परिणाम हो ये सब धर्मी के स्वरूप को छोड़कर स्वतंत्र नहीं होते धर्मी में ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है अतएव एक ही परिणाम है जो सकल विशेषो में व्याप्त होकर के रहता है इसलिए वास्तव बताओ अब पूछ रहा है परिणाम का लक्षण क्या है अत कोयम परिणाम पहले व्यवहार में जितना भेद दिख रहा है उन भेदों को लेकर समझाते आया अनंत धर्म जो सकल परिणाम धर्म से अभिन्न और धर्म भी धर्मी से अभिन्न होने से धर्म परिणाम भी धर्मी का स्वरूप परिणाम है अलग कुछ भी नहीं है और परिणाम क्या है अवस्थित द्रव्य से पूर्व धर्म निवृत्त धर्मांतर उत्पत्ति ही परिणाम अवस्थित कोई भी द्रव्य ले लो जैसे मृत्यु रूपी द्रव्य लिया स्वर्ण रूपा द्रव्य लिया उसमें पूर्व धर्म जो भी दिखाई दे रहा है उस धर्म का निवृत्त होकर गए धर्मांतर की उत्पत्ति होने का नाम ही परिणाम है इस प्रकार से अपना योग सिद्धांत का परिणामवाद की स्थापना कर दिया जिसके अगर पूर्व का दिया भाई समाधि परिणाम पढ़ा ना समाधि परिणाम था एकाग्रता परिणाम था निरुद्धकालीन परिणाम के बारे में भी चर्चा हुई प्रासंगिक परिणाम की तरफ विस्तार विवेचन इन्होंने कर दिया है पृष्ठ संख्या तीन सौ सत्रह उसमें रेखा चित्र बना करके समझाया गया है परिणाम दो प्रकार का होता है एक व्यक्त एक और अव्यक्त है व्यक्त मैंने जो कारण से विविक्त हो गया अलग होकर स्पष्ट दिखाई दिया धड़ा आदि बन गया है वो विविक्त परिणाम है और अव्यक्त कारण में लीन परिणाम को अव्यक्त परिणाम करते व्यक्त परिणाम में दो प्रकार का फिर है एक आंतर है और एक बाह्य आंतरकालिक अवस्था को लेकर के होता है और बाह्य दैशिक अवस्था को लेकर होता है आंतर में भी इसलिए तीन हो गया प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति प्रख्या सत्गुण का कार्य है प्रवृत्ति रजगुण का है और स्थिति तमगुण को लेकर के भीतर में होने वाली अवस्था भेद है में जन्य भी असंख्य हो जाते हैं और बाह्य परिणाम तीन प्रकार का है शब्दादि प्रकाश गुणों की भिन्नता को लेकर के है एक क्रिया की भिन्नता को लेकर के दो और जड़ता की भिन्नता को लेकर तीस यहां भी सत्य स्तंभ को लेकर के शब्दादि प्रकाश है वह सत्य गुण को लेकर के क्रिया रजगुण को लेकर के और जड़ता अवितम गुण को लेकर के इस प्रकार से परिणाम कुल मिलाकर अंत व्यक्त के अंतर्गत छह प्रकार के और अव्यक्त कारण लय के अलावा कुछ भी नहीं है आतस्वानी का भेद नहीं होते हैं और आगे देखिए अभी अगला तत्र कहे धर्मी का लक्षण बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने कहा अंत में एक ही धर्मी है वह उससे अभिन्न धर्म है और धर्म में ही सब परिणाम हो रहा है धर्म परिणाम भी है और अवस्था परिणाम लक्षण परिणाम तो धर्म में हो रहा है अवस्था और लक्षण धर्म में और धर्म परिणाम ही धर्मी में होता है धर्म से सब इसलिए अभिन्न हो गया इसलिए एक ही परिणाम में सबने कल्पन किया तो धर्मी क्या है समझा उसके लिए सूत्र आरम्भ करते हैं शांतो जिताव्यपदेक्ष धर्मानुपादी धर्मी शांत जो है धर्म का अनुपाति उदित धर्म का अनुपाति और अव्यपदेश धर्म का अनुपाति जो वस्तु उसका नाम धर्मी होता है और धर्म क्या है धर्म क्या है धर्मो अस्य स्थिति धर्मी है ना तो धर्म तो जानना पड़ेगा एकदश व्यवहार का जो धर्मानुपाति अपने कह दिया ना शांत धर्म हम्म? उदित धर्म और अविवेपी जो प्रदेश जो धर्म है इस धर्म का अनवयी जो होता है उसको हम धर्मी कहेंगे इन धर्म क्या है वाला कहते धर्मी में विद्यमान कार्योत्पाद शक्ति विशेष का नाम ही धर्म है कार्य के भाषाकार स्वयं योग्यता अवच्छिन्ना धर्म शक्ति रेव धर्म धर्मी केंद्र विद्यमान जो कार्य उत्पादिक का जो योग्यता है योग्यता छिन्ना जो शक्ति विशेष का ये नाम धर्म योग्यता चिन्ह उत्पादिका शक्ति उसी का नाम क्या है धर्म है धर्मी के अंदर और वह भी तीन प्रकार की उत्पादिका शक्ति होती है शांत दूसरा उदित तीसरा अव्यपदेश सच फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव एक अन्योन्य परिदृष्ट और वह धर्म अनंत हो जाता है कैसे फल का भेद को लेकर क्योंकि धर्म का तो अनुमान ही होता है अनुमान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना इसे कहते हैं फल अनुमित और प्रसव भेदान फल भेदान्वित अथवा प्रसव भेदान कहीं फल के आधार पर निर्णय करेंगे हम कहीं पर उत्पत्ति के आधार पर निर्णय करेंगे है ना तो जैसे फल के आधार पर कैसे अनुभव करोगे जैसे आपको सुख मिल गया अब यहाँ पर उत्पत्ति नहीं सुख के अगर अनुमान आप करेंगे पुण्य का वही फल कार्य सुखाधिकारी जो फल है ये उत्पत्ति भी कार्य ही है ना जैसे घट उत्पन्न हो गया है ना ये उत्पत्ति के कारण से हमने कारण में मान लिया उस चीज को धर्म को इसे फल हम ले रहे हैं अदृष्ट में लेना फलान में सदा अदृष्ट पदार्थों में और दृष्ट पदार्थों में सामने कार्य उत्पन्न हो ही रहा है उस उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर कार्यों का कारण का निश्चय करना ये यहाँ पर प्रसव शब्द से कह रहे हैं दोनों ही कार्य है फल भी कार्य है अदृष्ट धर्मों का और उत्पत्ति भी कार्य है इसलिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं फलानुमान हम करेंगे इसलिए अदृष्टों को लेकर के और उत्पत्ति अनुमान करेंगे हम केवल दृष्टों को लेकर के फल प्रसव भेदान भाव एक बने मृदादे दृष्टान में ले लो जैसा भी समझा चुके हैं मृदादि रूपी एक वस्तु धर्मी के अंतर्गत अन्योन्य परिदृष्ट अन्योन्य में क्या है चूर्ण पिंड कपाल घट अवस्था हो रही नहीं हो रहे हैं तो उन सारी चीजों को परस्पर भेद भी हो जाते हैं एक धर्मी का दूसरे धर्मी के साथ भेद है मृतिका से घड़ा बनता है तंतु से घड़ा नहीं बनता तो मृतिका अलग धर्मी है तंतु अलग धर्मी है और एक धर्मी के अंदर भी अनेक भेद हो जाएगा परस्पर भेद है जैसे पहले चूर्ण था उसको जल जल डाला आपने पिंड बनाया पिंड से उसको कपाल बनाया कपाल उनको जोड़ा तो घट बन गया तो बड़ा घड़ा बना छोटे के लिए तो जरूरत नहीं की बार में कर देता है इसे कहते चूर्ण आदि को लेना अन्योन्य अन्योन्य से करता चूर्ण आदि परिदृष्ट परिश्रवण उपलब्ध ऐसा ही अनुभव में आता है तत्र वर्तमान स्व व्यापार अनुभवन धर्मो धर्मांतरेभ्य शांतिभ्य व्यपदेशभ्य विद्यते हमेशा वर्तमान जो होता है स्व व्यापार अनुभव अपना कुछ अर्थ क्रिया कर स्व व्यापार के साथ हमेशा योग शास्त्र में ज्यादातर जगहों में स्व व्यापार शब्द कर क्या है अर्थ क्रिया कर जैसे घट है घट का स्व व्यापार क्या है घट का स्व व्यापार से घट का जल से संबंध हुआ फल और आनंद भी क्रिया अर्थ और क्रिया प्रयोजन और क्रिया इन दो से संबद्ध होने का नाम ही उस वस्तु का स्व व्यापार होना और ये नहीं हो रहा है तो अनागत हो गया स्व व्यापार वर्तमान है वर्तमान स्व व्यापार अर्ध वर्तमान है का मतलब कार्य का घट बना हुआ है वह जलानन करने योग्य भी है आनंद क्रिया संबंध हो सकता है और जल का धारण रूप का फल भी प्राप्त हो सकता है उसमें वर्तमान स्व व्यापारम अनुभवन अनुभव करते हुए धर्म हो एक जो धर्म था वो क्या करेगा धर्मांतरिभ्य धर्मांतर कौन होंगे शांति अव्यपदेभ्य क्योंकि वर्तमान उदित है वर्तमान में उदित हो चुका है व्यापार को प्राप्त हो रखा है अर्थात व्यपदेश है इस समय वो व्यपदेश है अतएव शांत से भिन्न है अव्यपदेश से भी भिन्न है किन्तु बीच वाला उदित अवस्था को प्राप्त है इसलिए शांति अव्यपदेश विद्यते यदा तो और वही वस्तु जब सामान्य न समन्वागत होती अपना सामान्य रूप क्या है मृतिका मृतिका में लय हो गया घट फोड़ दिया आपने उसको नष्ट कर दिया चूर्ण बना दिया उस मिट्टी में मिल गया तब कदा धर्म स्वरूप मात्र तब तो केवल धर्मी स्वरूप रह गया अब कोसो के न विद्य था जब धर्म परिणाम ही नहीं उसके अंदर पहले जैसा घटा घटता चूर्णता पिंडता परसर भेद आदि व्यवहार हुआ अब किस, किसका किसके साथ भेद व्यवहार करोगे भेद ही नहीं रह गया धर्म मात्र रह गया तब भेद नहीं होता तत्र त्रय खलु धर्मिणो धर्मा अतएव समझो इस धर्मी का तीन धर्म होते हैं एक का नाम शांता दूसरा उदिता तीसरा अव्यपदेश तत्र उनका व्याख्या करके बताइए तत्र शांता ये कृत्ता व्यापारान उपरता शांत धर्म कौन इसको कहेंगे जिसका व्यापार हो गया अतीत अवस्था को प्राप्त हो गया जो अतीत को प्राप्त हो जाए वो सब शांता जो व्यापार को करके उपरत हो गए ये कृत्ता स्व व्यापारान उपरता ते शांता सव्यापार व्यापार हो रहा है चल रहा है वर्तमान में है तो उसको कहते हैं उदिता तेज अनागत लक्षण से समनंतरा वर्तमान से अनंतरा अतीता और वे ही अनागत लक्षण के अनंतर हो तो वर्तमान कोटि में आ जाते हैं और वर्तमान के अनंतर जो अतीत हो जाते हैं इसलिए तेज अनागत लक्षण से समनंतरा वे या तो अनागत लक्षण के समानांतर होने वाले होते हैं अथवा वर्तमान के अनंतर होने वाले होते हैं जो अनागत के अनंतर को होते हैं वो क्या है वर्तमान होंगे उदित हो जाएंगे और जब वर्तमान के अनंतर होते हैं वो अतीत हो गए अर्थात वो शांत हो गए लेकिन जो अतीत के अंदर अनागत के अंदर वर्तमान तक आ जाएगा और वर्तमान के अंदर अतीत को प्राप्त हो सकता है और अतीत के अंदर अनागत को आ जाए चक्र ऐसा नहीं है यहाँ अनागत का वर्तमान होता है वर्तमान अंत में अतीत हो जाता है ये धारा है चक्र नहीं है हाँ। आज अतीत के अनंत फिर अनागत ऐसा नहीं होता तो गया सो गया दोबारा आएगा वही नहीं आएगा वो, वो आ रहा है लेकिन वही नहीं है ना वो आ रहा है लेकिन वही नहीं है दोनों बहुत फर्क है घट बन गया वही है ना घड़ा लेकिन वही घड़ा नहीं है वह घड़ा है पहले एक घड़ा था अब जो बना यह भी घड़ा है लेकिन यह वही घड़ा नहीं वो तो नष्ट हो गया इसलिए कहते हैं कोई शंका मन में था दूर करें किमर्थम अतीत से अनंतरायण भवंती वर्तमान अतीत के अंदर वर्तमान कर डालो या अतीत के अंतर अनागत कर दो कुछ तो कर दो अतीत के अंदर भी जैसा अनागत था वो अनंतर में क्या हो गया वर्तमान हो गया जो वर्तमान था वो अनंतर में हो काल में आकर के अतीत हो गया और अतीत के अनंतर में कुछ न कुछ तो कर दो वर्तमान कर डालो उसको या अनागत कर दो कहते नहीं होगा किमर्थम अतीत से अनंतरा न भवंती वर्तमान अतीत के अंतर वर्तमान हो जाए या अतीत के अंतर अनागत समझो विकल्प क्यों नहीं होता किमर्थम न भवंती कहते पूर्व पश्चिमता यह अभाव पूर्व पश्चिमता नहीं है ये पूर्व दिशा पश्चिम दिशा नहीं है ना पौर्वा परिव्यवस्था नहीं बनती है हाँ, अनागत वर्तमान वर्तमान का अतीत होना अतीत के अनांतर ये तो पौर्वापरित जो व्यवहार है इस व्यवहार में जो नष्ट हुए का दो बार अनागत भाव को प्राप्त होना या वर्तमान भाव प्राप्त होने का व्यवहार जो है नहीं है पौर्वापरी की व्यवस्था जो होती है बाप से बेटा पैदा हुआ बेटा से फिर बाप पैदा हो जाए ये तो नहीं होता है? बेटा भी बाप का बाप बन जाएगा इसलिए कहते कि देखो औरवा पर्यता की क्या व्यवस्था होती है वह उल्टा क्रम कभी नहीं होता यथा अनागत वर्तमान हो पूर्व पश्चिमता नैव अतीत तस्मात नातीत अस्थि समान किंचित इसे अतीत के अनंतर कुछ हो ऐसी बात कभी नहीं हो सकती तद अनागत एवं समनंतरो भवती वर्तमान इसे तस्मात इसे निष्कर्ष निकला अनागत के समनंतर वर्तमान वर्तमान के समनंतर अति तो यही हुआ करता है इस प्रकार से शांत और उदित का बीच में व्यवस्था होती है और अव्यपदेश का मतलब अव्यपदेश के इसने हमें समझाओ फिर अव्यपदेश क्या चीज है सर्वम सर्वात्मक ऐसी जवाब दे देते हैं है? सर्वम सर्वात्मक खटपट जवाब फिर मिट्टी से कुछ बना लो क्या है भात बनाओ मिट्टी डाल कर तो सर्वम सर्वात्मकम का अर्थ किया है सर्वम वस्तु सर्वधर्मकम इत्यर्थ सर्वात्मक कर दिया सर्वधर्मकम अर्थात सर्वधर्मकम का मतलब भी सर्वशक्तिमत प्रत्येक धर्मी अपने में पैदा होने योग्य जितनी भी कार्य है उन सकल कार्यों का शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता है मिट्टी से आप तो मिट्टी लेंगे उस मिट्टी से क्या नहीं बना सकते हम्म? कुछ भी बना सकते चाहे घड़ा बना लो चाहे कसोरा बना लो चाहे कुल्लड़ बना लो चाहे गोलक बना लो चाहे सुराई बना लो नहीं कुछ भी बना सकते अतः का की अवस्था में क्या हो गया वो अव्यपदेश जब बन जाए तो व्यपदेश हो गया अब आप कैसे खड़ा है व्यपदेश कोटि में आ जाएगा तब उदित हो गया और नष्ट हो जाए घड़ा तो शांत यावत काल पर्यंत मृतिका रूपी अवस्था है तावत काल पर्यंत उस का रूपी कार्य में कारण में सकल कार्यों को उत्पन्न करने का मैंने सकल कार्य का तात्पर्य नहीं कि कपड़ा पैदा कर दो उसमें भात बना डालो सकल कार्य तो मृत्यु के योग्य मृत्यु के रूपी कारण से पैदा होने योग्य जितने भी कार्य है वो सकल कार्यों को उत्पन्न करके शक्ति समृद्धि के अंदर जैसे वे कपड़े का टुकड़ा खरीद लो आओ कपड़े का टुकड़े में क्या बनाना चाहेंगे कौन सी डिजाइन डालना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है चाहे कुर्ता बनाओ चाहे फुल हाथ वाला बनाओ चाहे आधे हाथ वाला बनाओ नहीं अलग अलग डिजाइन बनाते हैं ना कोई यहाँ से बांधने वाली बनाते हैं और कोई यहाँ बटन वाला होता है सीधा ये सामान्य लोग करते बटन वाला अलग अलग होते हैं ना चाहिए लेकिन एक ही कपड़ा में सब कुछ होने की संभावना है क्या हाँ उस कपड़ा से जो डिजाइन चाहे वो डिजाइन आप बना सकते हो लेकिन बनेगा एक ही लेकिन बनने की योग्यता उसमें सभी की है चाहे उसे कुर्ता बना लो चाहे फुल हैंड वाला बना लो चाहे हाफ जो है वाला बना लो चाहे जैसे बना जैसे पेंट में बनाते ना बेल बॉटम बनाते एलिफेंट बॉटम बनाते क्या क्या बॉटम बोलते हैं कई बॉटम से तो बनते कि नहीं बनते तो सब चीज बनाने का उस कपड़े में शक्ति रहता है बनता उसमें एक ही है वास्तव जब बन गया तो उदित हो गया जब तक बना नहीं कुछ पड़ा है आपके सामने तब तक के लिए तो उसमें सर्वम सर्वात्मक वह अवस्था है उत्तम जैसे दृष्टांत से समझाया जल भूम्यो पारिणामिकम वैश्व वैश्वरूप्यम स्थावरेशु दृष्टम तथा स्थावरणाम जंगमेशो स्थावरेश जल जलभूम्यो पारिणामिकम आप क्या देखते हैं खेतियों में जंगलों में बगीचों में मिट्टी तो वही है एक बगीचा मिट्टी पूरा वही बारिश एक पड़ रहा है लेकिन किसी में नींबू हो गया किसी में आम हो रहा है किसी की ओर फूल होता है फल लगता ही नहीं किसी की ओर फल लगता है फूल लगता नहीं किसी में न फल है न फूल है पता ही पता होता है क्यों ऐसा वही जल वही पृथ्वी एक खेती एक बगीचा है विविध प्रकार का वैश्व रूप्यम प्रसाद प्रसाद होंगी विविध रूपता दिखाई दे रहा है खट्टा मीठा सारी चीजें पैदा हो जाए एक ही बगीचा में अलग अलग पेड़ डालो सब अलग अलग तरीके पैदा हो जाए एक ही कुआं से पानी छोड़ा एक ही बारिश का पानी है लेकिन फिर भी रस अलग अलग हो जाता है आप कहेंगे बीज का स्वभाव से इसके स्वभाव अरे बीज में क्या पृथ्वी तो है, है? बीज के लोहे का बन गया वो भी पृथ्वी है किसी का भी हो बीज तो बीज है और पार्थिव है जल तो जल है वो जल आपने डाला पार्थिव से संबंध हुआ तो उसका फलस्वरूप सब अलग अलग देता है इसलिए कहते देखो जल भूमि हो पारिणामिकम रसाद रूपम स्थावरेश दृष्टम पेड़ पौधों में जैसा देखते हो उसी प्रकार आपके अंदर भी आप देख लो सभी खाते वही रोटी पानी बच्चा भी बाप भी बड़ा भैया जवान भी सब वही रोटी पानी खा रहे ना है क्या अलग दिया गया सब घर में एक रोटी बना सब एक ही चीज खा रहे हैं तेरे बाप के बाल झड़ रहे हैं है? जवान भैया के तो दाढ़ी मूछ है हो छोटा भैया का जब दाढ़ी मूछ भी नहीं आ रहा खाया सब वही दाल रोटी कि दूसरे दूसरे खा रहे सब वो भाल झटने लायक रोटी खाया क्या बाप ने है ऐसे तो है खाए एक ही चीज इसी जंगम के अंदर कुछ तो ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जो एकदम जड़ है स्थावर है नहीं नाकुन क्या है जड़ है बाल क्या है जड़ खाए वही चीज सब जंगम ही हो रहा है क्या सब चेतन में ही परिणाम हो रहा है क्या जड़ चेतन दोनों विभाग दिख रहे इसलिए कहते हैं जंगमेश स्थावराणाम इतना ही नहीं स्थावरेश जो जंगमान स्थावरों में इसी प्रकार से जंगम अंश भी पैदा होते पेड़ पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं क्या पत्तों में कीड़े नहीं आ रहे हैं कहा से आ गए बाहर से टपक रहे हैं आपने वही पानी छोड़ा वही पृथ्वी है वही पेड़ है वही बीज है लेकिन किसी फल में कीड़ा पड़ गया किसी फल में नहीं पड़ा ये तो है नहीं कि भाई इस डाली में कीड़े पड़ने लगा आपने जल डाल दिया उस डाली में कीड़े न पड़े ऐसा जल डाला था क्या एक ही जड़ में आपने पानी दिया उस जड़ सभी शाखाओं में जल गया लेकिन कुछ शाखाओं में कीड़े पड़ गए कुछ शाखाओं में नहीं पड़े एक स्थावर में वही जल रहा पृथ्वी का कार्य विषम कार्यों को देखने जंगम भी पैदा हो रहा है इसे स्थावराणाम जंगम था जंगमानंद स्थावरेश दृश्यते एवं जाति अनुच्छेद सर्वम सर्वात्मक इसे जाति का अनुच्छेद होने से जाति अनुच्छेद भावों का एक काल में सर्व अव अवच्छेद न होने का इन किन रूपेण है ये वहां पृथ्वित्व तो सब जगह है ना जाति अनुच्छेद पृथ्वी दृष्टिया सब पार्थिव होते भी सकल प्रकार हो गया इसलिए सर्वम सर्वात्मक देश काल आकार निमित्त अपबंधात न खलु समान कालम आत्मनाम अभिव्यक्त बस सारे के सारे कार्य इकट्ठे एक काल में क्यों अभिव्यक्त नहीं होता अरे देश काल आकार रूपी निमित्तों का क्रिय के कारण राम अप निमित्ता अपबंधात असंबंधात एक ही बात असंबंधात को अपबंधात को सबका एक कालाचरण संबंध हो नहीं सकता इसीलिए समान कालम आत्मनाम समान काल में सभी के स्वरूप इकट्ठे अभिव्यक्त हो ये नहीं हो सकता न खलु समान कालम आत्मनाम अभिव्यक्ति येषु अभिव्यक्त अनुव्यक्तेशु धर्मेशु अनुपाति इस प्रकार से जो अभिव्यक्त हो चाहे अनुव्यक्त हो सकल धर्मों का अनुसरण करने वाला सभी में अनुस्यूत रहने वाला सभी से अनवित रहने वाला जो सामान्य विशेष रूपा जो वस्तु विशेष है उसी का नाम धरणी है सो अन्वयी धरणी ओम